वह सब लक्ष्मी के द्वारा व्याप्त है ब्राह्मण धीर क्षमावान साधु विद्वान भोग पारायण तथा मोक्ष पारायण पुरुषों में जो जो रमणीय अथवा सुंदर है वह सब लक्ष्मी का ही विस्तार है अधिक सुनने से क्या लाभ समस्त जगत लक्ष्मी में ही है जिस किसी व्यक्ति में जो कुछ भी उत्कृष्ट वस्तु दिखाई देती है वह सब लक्ष्मीमय है लक्ष्मी से शून्य कोई वस्तु नहीं है दरिद्रे क्या तू इन सुंदरी लक्ष्मी देवी के साथ स्पर्धा करती हुई लज्जित नहीं होती जा चली जा यहां से तब से गंगा जी का जल दरिद्रता का शत्रु हो गया तभी तक दरिद्रता का कष्ट उठाना पड़ता है जब तक गंगा जी का सेवन न किया जाए तब से लक्ष्मी तीर्थ अलक्ष्मी नाशक हो गया वहां स्नान और दान करने से मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुण्यवान होता है महामते वहां देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा सेवित 6000 तीर्थ हैं जो सब के सब सिद्धि प्रदान करने वाले हैं तदंतर विख्यात भानु तीर्थ है जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है वहां का वृतांत महापातकों का नाश करने वाला है उसे बतलाता हूँ सुनो शरियत नाम के विख्यात एक परम धर्मात्मा राजा थे उनकी स्त्री का नाम स्थविष्ठा था रानी इस भूतल पर अप्रतिम सुंदरी थी संयमी पुरुष में श्रेष्ठ विश्वामित्र कुमार ब्रह्मर्षि मधुच्छंदा राजा सरयात के पुरोहित थे एक समय की बात है वीरवर राजा शर्यात अपने पुरोहित को साथ ले दिग्विजय के लिए निकले संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाकर लौटते समय राजा ने मार्ग में सेना का पड़ाव डाला उस समय उन्होंने अपने पुरोहित को उदास देखकर पूछा विप्रवर आप खिन्न क्यों हैं मैंने पृथ्वी को जीता और बड़े-बड़े राजाओं पर विजय पाई यह तो महान हर्ष का अवसर है ऐसे समय में आप दुखी क्यों हैं सच सच बताइए तब मधुच्छंदा ने राजा को संबोधित करके कहा राजन जब एक पहर दिन रहेगा तब हम लोग यात्रा करेंगे इसी में रात आधी बीत जाएगी उधर इस शरीर की स्वामिनी मेरी प्रियतमा काम के वशीभूत होकर मेरी राह देखती है उसका स्मरण करके मेरा शरीर सूखा जाता है काम जनित विकार उत्पन्न होने पर वह कमल के समान मुख वाली सुंदरी जीवित तो मिलेगी ना यह सुनकर राजा हंस पड़े और पुरोहित से बोले ब्राह्मण आप मेरे गुरु और मित्र हैं फिर अपने आप को क्यों विडंबना में डाल रहे हैं संसार का सुख तो क्षणभंगुर है उसमें आप जैसे महात्माओं की आस्था कैसी मधुचंदा बोले राजन जहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं वहीं धर्म अर्थ और काम की वृद्धि होती है अतः अपनी पत्नी के प्रति यह अनुराग दूषण नहीं भूषण ही मानना चाहिए तदंतर राजा विशाल सेना के साथ अपने देश में आए उन्होंने पत्नी के प्रेम की परीक्षा करने के लिए नगर से यह संदेश भेज दिया राजा शर्याति दिग्विजय के लिए गए थे वहां एक राक्षस पुरोहित सहित राजा को मारकर रसातल में चला गया दूत के मुख से यह संदेश सुनकर रानी इसकी सत्यता का पता लगाने लगी किंतु मधुचंदा की पत्नी ने तुरंत प्राण त्याग दिए यह एक अद्भुत बात हो गई दूतों ने उसके मृत्यु का हाल महाराज से जाकर कहा साथ ही रानियों की चेष्टा भी बताई इससे राजा को बड़ा विस्मय और दुख हुआ उन्होंने दूतों से कहा तुम लोग जाकर ब्राह्मणी के शरीर की रक्षा करो और नगर में यह बात फैला दो कि राजा अपने पुरोहित के साथ राजधानी में आ रहे हैं यूं कहकर राजा चिंता से व्याकुल हो उठे इसी समय आकाशवाणी हुई राजन इस पृथ्वी पर गौतमी गंगा सब प्रकार के संकटों की शांति करने वाली तथा पावन है वे आपका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करेंगे आकाशवाणी सुनकर शर्यात गौतमी के तट पर आए उन्होंने ब्राह्मणों को धन दिया पितरों तथा द्विजों को तृप्त किया और अपने पुरोहित को धन के साथ यह कहकर भेजा आप अन्य तीर्थों में जाकर धन दान करें राजा का यह सब कार्य पुरोहित नहीं जानते थे उनके चले जाने पर राजा ने सेना को भी भेज दिया और स्वयं अकेले ही गंगा तट पर रह गए उन्होंने गंगा सूर्य और देवताओं को सुनाकर कहा यदि मैंने दान होम और प्रजा पालन किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से वह पतिव्रता ब्राह्मणी मेरी आयु लेकर जीवित हो जाए यूं कहकर राजा अग्नि में प्रवेश कर गए उसी समय पुरोहित की पत्नी जीवित हो गईं राजगुरु मधुचंदा को जब यह बात मालूम हुई कि राजा अग्नि में प्रवेश कर गए मेरी पतिव्रता पत्नी मरकर फिर जी उठी और उसी के लिए महाराज ने अपने जीवन का परित्याग किया है तब उनका ध्यान अपने कर्तव्य की ओर गया उन्होंने सोचा मैं भी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्रिय मित्र के पास जाऊं अथवा यहीं रहकर तपस्या करूं अंत में वे इस निश्चय पर पहुंचे कि मेरा कर्तव्य तथा पूर्ण कार्य यही है कि पहले राजा को जीवित करूं उसके बाद प्रिया के पास जाऊं यह विचार कर उन्होंने सूर्य देव का स्तवन किया क्योंकि उनके सिवा दूसरा कोई संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला नहीं है मधुचंदा बोले मुक्ति स्वरूप अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को नमस्कार है ओंकार के अर्थभूत छंदों में देव को नमस्कार है जो विरूप स्वरूप त्रिगुण त्रिमूर्ति सृष्टि पालन और संहार के हेतु तथा सबके प्रभु हैं उन भगवान सूर्य को नमस्कार है इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा कोई वर मांगो मधुच्छंदा बोले देवेश्वर राजा का जीवन दान दीजिए प्रिय वचन बोलने वाली मेरी पत्नी को भी जीवित रखिए और मुझे तथा राजा के लिए भी उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए जगदीश्वर भगवान सूर्य ने रत्नमय आभूषण से विभूषित राजा शर्यात को जीवित करके दे दिया ब्राह्मण की पत्नी को भी जिलाया तथा और भी श्रेष्ठ एवं कल्याणमय वर प्रदान किए तदंतर राजा प्रसन्न हो पुरोहित के साथ प्रियजनों से घिरे हुए सुखपूर्वक अपने देश को गए उस स्थान पर तीन हजार गुणवान तीर्थों का निवास है मुने उसी समय से उस स्थान का नाम भानु तीर्थ मृत संजीवन तीर्थ शर्याति तीर्थ और मधुच्छंदस तीर्थ हो गया वह स्मरण मात्र से पापों को दूर भगाता है उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है खड़ग तीर्थ और आत्रेय तीर्थ की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं गौतमी के उत्तर तट पर खड़ग तीर्थ है जहां स्नान और दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है नारद मैं वहां का वृतांत बतलाता हूं पैलूष नाम के विख्यात एक ब्राह्मण थे जो कवश के पुत्र थे वे कुटुंब के भार से विवश हो धन के लिए इधर-उधर दौड़ा करते थे किंतु उन्हें कहीं से भी कुछ नहीं मिलता था दैव तो अत्यंत विमुख था ही पुरुषार्थ भी निष्फल हो गया था इससे पैलूष को बड़ा वैराग्य हुआ वे सोचने लगे यह तृष्णा मुझे बलपूर्वक पाप की ओर खींचती है तृष्णे तूने मेरे अज्ञानवश बड़ा अपकार किया है किंतु अब तुझे दूर से ही नमस्कार है यह सोचकर बुद्धिमान पैलूष ने मन ही मन विचार किया इस तृष्णा का नाश करने के लिए क्या होना चाहिए फिर उन्होंने अपने पिता कवच से पूछा तात मैं अज्ञान रूपी खड़ग से क्रोध और लोभ का तथा अत्यंत दुस्तर संसार का कैसे छेदन करूं इसका उपाय बतलाइए कवच ने कहा वैदिक श्रुति का कथन है